Burn it किराया लग जाएगा जो ऐसी अतिथि को पाद्य आसन अर्घ आदि के द्वारा प्रसन्न नहीं करता है उसको प्रतिवाय लगेंगे कह दिया ये तस्कर्ण तो प्रतिवाय श्रूयते क्या है वो प्रत्यवाय तो उसी को समझा रहे आशा प्रतीक्ष संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ति पुत्र पशु सर्वान एक वृंदो पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानुष्ठन वसति ब्राह्मणो गृहे पुरुष से गृह ब्राह्मण अनुष्ठन वसति जिस अल्प बुद्धि वाला के घर में ब्राह्मण बिना खाए हुए पिए रह जाए उसके क्या क्या नष्ट हो जाते हैं ये तक सर्वम वृंदे उसकी ये सारी चीजें नष्ट हो जाते हैं कौन से कौन से आशा उसकी आशाएं नाश हो जाती हैं आशा का मतलब क्या अज्ञात वस्तु को भी प्राप्त करने की अपने अंदर जो इच्छा है आपको मालूम है नहीं बाहर से सुने हुए हैं समझो ये अंदर की वासनाओं की वजह से आपके विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जैसे कई इच्छाएं ऐसे हैं जैसे बच्चा है उसको क्या मालूम माँ का दूध पीने से मैं जिंदा रहूंगा उसकी इच्छा होती है जवान होते जाता है कोई पढ़ाता नहीं है कहीं से सुनता नहीं कि तो कामनी की जिज्ञासा होती है पत्नी की इच्छा हो जाती है संतान की इच्छा है अनेक चीजों के अंदर में जो वासना इस तरह की हैं जो हमने कहीं से न पढ़ा न सुना है न जानकारी प्राप्त हुई लेकिन आपके अंदर की वासनाओं के कारण से आपके अंदर उन अज्ञात विषयों की प्राप्ति की इच्छा जो होती है उसको कहते हैं आशा है और आशा दुख से परम कारण आशा दुख का परम कारण क्योंकि उनका पूरा होना न होना का तो कोई भरोसा नहीं उसको लेकर आदमी प्रयास में लगा रहता है और अंत में दुख ही पाता है तो जैसे लड़का लड़की का प्रेम में हो जाते हैं और वो पीछे लगा रहता है लड़का लड़की का लड़की लड़का का दोनों प्रेम करते रहते हैं अब वो सोचते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे हम दोनों को बढ़िया जिंदगी चलेगा ऐसे वैसे मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं अंदर ये वासनाओं के अनुरूप वो करता है तुम पूरा हो जाए तो दुखी ना हो जाए तो भी दुखी होते इतने प्रेम विवाह वाले सब दुखी हो जाते इसी का कहते हैं आशा और प्रतीक्षा क्या है जानते हैं उस वस्तु को और प्राप्त करने की हमारी इच्छा है ज्ञात वस्तु विषय प्राप्त इच्छा प्रतीक्षा अज्ञात वस्तु विषय प्राप्त संबंधी इच्छा आशा ये दोनों ही नष्ट हो जाएगी जानते हैं ये चीज है और उसको प्राप्त करने का साधन भी आप जानते हैं साधन भी अपनाए हुए हैं इन घर भी आपको प्राप्त नहीं होता कई लोग कहते हैं बहुत प्रयास किया जानता है परीक्षा आ रही है खूब रटा खूब मेहनत करी उसके बावजूद रिजल्ट उल्टा हो गया जैसे आज कई विद्यार्थी लोप है तो संगीत की परीक्षाएं चल रही तो मेहनत कर रहे हैं लगे हुए हैं अब उसके बावजूद मार्क्स ठीक से नहीं आता कभी तो तो घरेली हो जाते हैं इसे क्या है प्रतीक्षा क्योंकि यह ज्ञात विषय उसको मालूम है कि मुझे परीक्षा देना है उसकी प्राप्ति उसमें सफलता की प्राप्ति की इच्छा से कोई मेहनत भी कर रहा है साधन भी पता है मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए ट्यूशन लगा रखा है तो क्या क्या करते हैं दुनिया भर उस प्रतीक्षा का फल स्वानुरूप होगा स्वानुकूल होगा कोई भरोसा नहीं रहेगा और विशेष रूप उसके उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण अतिथि बन के आया हो और भूखा चला जाए उसकी घर का भी दुर्दशा हो जाएगा उसकी आशा और प्रतीक्षा दोनों नष्ट हो जाएंगे संगतम और उसकी जो संगत है संगतम संयोगो मैत्री उसके मित्र भी और उसे शत्रु बन जाएंगे वो भी दूर हो जाएंगे सुनताम सुनताम प्रिय सत्य इतमरा हमर को प्रिय और सत्य को उसमें कहते हैं उनका जो प्रिय है उसका वियोग हो जाएगा प्रिय जैसे पत्नी बच्चे वगैरह प्रिय होते माता पिता तो वो प्रिय उससे वियोग हो जाएगा और उसके खुद के द्वारा किया हुआ इष्ट और पूर्व कर्म है इष्ट कर्म और पूर्त कर्म ये इष्ट और पूर्व इष्टा दीर्घ हो गया और प्रसिद्ध दीर्घ हो गया समझ लेना पूर्व पद को दीर्घ इष्टंच पूर्तंच इष्टा पूर्ते ऋषभ आदिगण में लेकर के दीर्घ हो गया इष्ट हो गया श्राउत कर्म अग्निहोत्र आदि जो करते हैं वो श्राउत कर्मों को कहते हैं पूर्त उन स्मार्ट कर्मों को कहते हैं जैसे कुआ बावड़ी दी है सब चीजें होती वो स्मार्ट कर्मों में गिना गया है तो उन कर्मों को द्वारा किया हुआ पुण्य भी उसका वृद्ध है वह भी नष्ट हो जाएगा और पशुश्च सर्वान पशुश्च और पशु इत्यादि सर्वा अंत में कभी क्या क्या गिनाया जाए जो कुछ उसका अपना है जिसको वो अपना मानता है और प्राप्त करना चाह रहा है या प्राप्त है वो सब कुछ उसका खत्म है एक सर्वा मैंने विनश्यति नष्ट कर देता अतः सभी अवस्थाओं में एक सामान्य नियम है कि अतिथि के सत्कार जरूर करना चाहिए जो अपने पास है उसी से संस्कार करो ये क्या सिद्धांत स्थापित किया नहीं तो प्रत्यवाय लग हो जाता है आशा प्रतीक्षा भाषिकार कहते हैं अनिर्ज्ञात तो प्राप्त इष्टार्थ प्रार्थना आशा अनिर्ज्ञात आपको अज्ञात ज्ञात नहीं है समय प्रकार और इस अनिर्ज्ञात वस्तु की प्राप्ति संबंधी जो इष्ट है प्राप्ति रूपेण जो इष्ट है अनिर्ज्ञात विषय का प्राप्त न आपने आपने इष्ट बना लिया है तादृश विषय का प्रार्थना अर्थ प्रार्थना इष्टार्थ प्रार्थना उसी को आशा करते और निर्ज्ञात वस्तु की प्राप्त रूपेण आपने इष्ट बना लिया आपने तारस अर्थ जो प्रतीक्षण प्रतीक्षा तारस अर्थ प्रतीक्षा किया जा रहा है जो उसका नाम प्रतीक्षा ये आशा प्रतीक्षा है वे दो का नाम आशा सत्संयोग जन फलम जन जो फल है जन कई वर्ग योग योगजम ऐसा भी पाठ भेद करते हैं लोग भाषा का पाठ भेद है सन उपसर्ग नहीं है जम फलम ऐसा भी पाठ करने किया है सुनृतांच सुनृता ही प्रिया प्रिया वाक निमित्त सुनृता शब्द का प्रिय वाक प्रिय वाणी ऐसे बोलने वाले जो आपके जो प्रिय हैं वो आपसे अलग हो जाएंगे तो प्रिय वाणी आपको सुनाई नहीं देगी तन निमित्तम इसलिए कर वाणी से क्या लेन देन इसलिए तन निमित्तम तन निमित्तक जो भी कार्य आपसे प्रिय बोलने वाले अपना पति वाह बच्चे और जो है माता पिता वगैरह इनका वियोग हो जाना तक यहाँ पर कार्य वो भी नष्ट हो जाएगा मैंने वो तक जो भी चीजें सब नष्ट हो जाएंगे प्रिय वाक संबंधी जो चीज इष्टापूर्त है इष्टम अनियावादिजम पूर्तम आराम आदि क्रियाजम फलम इष्ट क्या है तब इष्ट वो चीज है जिसको कहते यागादि इष्ट कर्म कहा जाता है आदि जन्य कर्म को इष्ट कहते हैं कर्मजन्य फल को और पूर्व क्या चीज है जो कहते आराम आदि धर्मशाला बना दिया अपने आराम गृह आराम बना धर्मशाला बना दिया लोग आ रहे जा रहे रह रहे हैं उसमें है कुआ खोद दिया कूप तालाब बनवा दिए हम्म? इन सब चीजों को कहते हैं पूर्व कर्म तर्जन्य जो फल है वह भी नष्ट हो जाएगा पुत्र पशुश्च पुत्रांश्च पशुश्च सर्वान एक उत्तम प्रीत मैंने आवर्जेती विनाश आवर्जेती रुचि वर्जने जाते हैं ये सब वर्जित हो जाएगा मैंने उससे अलग हो जाएगा पुरुष से किसका ऐसा होता है उस पुरुष का और कैसा पुरुष है अल्प में दसो अल्प प्रज्ञ अल्प प्रज्ञ पुरुष का ये दुर्दशा होता है अल्पाम मेधा यस्वीति अल्प में दशा नित्य असिच प्रजा मेरे नीचे सार दिया बहुत अल्प प्रज्ञ यस्य अनस्नन मैंने अभुंजान न खाते पीते हुए ब्राह्मण कौन नहीं खाते पीते रहा ब्राह्मण यश गृह वसती जिसके घर में रहता है नीचे टिफन का रही ला रहे देखो कि जो कल बता रहे थे कि नूनम मद वियोग पीड़ितों मत पिता न भवे भुक्तवान मानव प्रतीक्षा माने के मया भी कथम उज्जेत यदि मनुष्या नव भुक्तवान यदि अवगम्य है क्योंकि उस यमराज्य का जो पत्नी और मंत्री आदि हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया नूनम अनुद्ध मानो भी भोजनाद्यर्थम चिकेता भोजनादि के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ कारण यही है उसके मन में कि मेरे पिता मेरे भी हो मेरे माता मेरे भी हो के कारण से और घर में खाना पीना नहीं खाई होंगी कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा कुछ पता नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में उलझन में रहते वक्त मैं कैसे खा पी के यहाँ ठाकते रहूंगा तो गाँव से उसने नहीं खाया था हाँ। तस्मा अनुपीक्षणीय सर्वावस्था स्वपी अतिथि रित्यता इसलिए सर्वावस्था स्वपी सभी अवस्थाओं में जो है ना अतिथि अनुपक्षणीय अतिथि की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए ये इसका तात्पर्य हुआ और बीच की बात यहाँ पर मंत्र में नहीं है लेकिन समझना है बीच में क्या हुआ एवं वक्त भाष्य मृत्युवाच नचकित समुपगम्य पूजा पुरस्कार बीच में हुआ ठीक है मैं वस्तु मृत्यु देवता ने क्या किया उनके सबके कहने के आधार पर जल वगैरह ले जाकर के उसके चरण धोए स्वागत करके ले आए आसन पर बिठाया फल फूल पानी पूछा खिलाया पिलाया उसके बाद में जो है नचिकेता को से इन बातों को कहा क्या कहा कि रात्रि रेदवात गृह में अनष्ट ब्रह्म नमस्य नमस्ते अस्त ब्रह्मन स्वस्ति अस्तु तस्मात्न वरान गृहीश्व तीसरे रात्रि रजवासी अन्य गृहे अनशन तीसरे रात्र यदवासी अतिथि सन नमस्या हे ब्राह्मण संबोधने हे ब्राह्मण देवता अतिथि सन अतिथि होकर के आप जो है अनशन न खाते पीते हुए तीन दिन रात आप हमारे यहाँ जो वास किए हैं ऐसे आपको सबसे पहले नमस्कार है नमस्कार करने योग्य नहीं ब्राह्मण है नमस्य अतिथि नमन पूजा आदि के द्वारा प्रसन्न करने योग्य जो अतिथि ऐसे आप योग्य अतिथि तीन रात हमारे बिना खाए पे जो रह रहे हैं इसके लिए आपको नमस्ते अस्तु आपको हमारा नमस्कार हो हे ब्राह्मण और आप नाराज ना होइए नहीं तो हमारा सब कुछ नाश हो जाएगा आशा प्रतीक्षा वगैरह इसलिए मैं स्वस्ति रस्तु मेरा पहले कल्याण करें आप तस्मात प्रति और ऐसे जो आप हैं जो मेरे कल्याण प्रदाता और मेरे यहाँ जो प्रवास पूर्व तीन दिन रहने वाले आपको हम इस, इसके बदले में तीन वरान प्रणीश्व मैं तीन पर आपको देना चाहूंगा एवं मुक्त मृत निर्वाचन चिकित्सा उपगम्य पूजा पुरस पूजा आदि पूर्वक नचिकेता के पास जाकर के मृत्यु ने ऐसे कहा तीसरा रात्र ही यदि अस्मात अवासी ही उषितवान असी इसलिए जो है तीसरे रात्रि यद से यस्मात लेना क्योंकि आगे में तस्मात है ना आगे में तस्मात प्रति तीन है ना इसीलिए यस्कार यस्मात कर दे भाषा यस्मात अवासी ही उषितवान असी आप यहाँ निवास किए हैं मे गृह मम गृह अनस्तन हे ब्रह्मन संबोधन मेरे घर में आज न खाए ही तीन रात जिसलिए वास की है इसलिए आपको मैं तीन वर देता उसके साथ अनुय होगा अतिथि सन नमस्य नमस्कार केवल आप अतिथि नहीं है तो तुमको आप नमस्कार जो भी क्योंकि ब्राह्मण है नमस्कार आरस्थ तस्मात नमस्ते तुभ्य मस्तु भवतु इसलिए आपको हमारा नमस्कार हो गए ते कार्य तुभ्यम अस्तु भवतु न हे ब्रह्मन स्वस्ति मने भद्रम अपने आप हमारा कल्याण भी करें ऐसा न हो आप नाराज हो जाएंगे फिर सारा काम हमारा बिगड़ेगा ना चाहे अपने ब्राह्मण स्वभाव से आप हमारे आशीर्वाद ही कल्याण कर दें चाहे मेरी प्रार्थना है इसलिए आप मेरी कल्याण कर दें उन्हें अभिशाप ना दे दे नाराज ना हो जाए अभिशाप की जगह तो ब्राह्मण तो मुश्किल हो जाए इसलिए स्वस्थ में अस्तु हे ब्रह्म स्वस्थ स्वस्ति में अस्तु तस्मात भगवतो अनशन मद गृह वासना निमित्ता दोषा तस्माद की व्याख्या कर भगवतो अनशनी न आपके द्वारा बिना खाए हुए मेरे घर में वास का निमित्त से ये दोष के कारण से तत्प्राप्ति उपशमीन तत्प्राप्ति उपशमन उस दोष के जो प्राप्ति हुई है उस दोष को उपशमन करने के लिए यद्यपि भगवत अनुग्रह ने सर्वा मम स्वस्ति इसे यदि आपके अनुग्रह मात्र से ही मेरी सारी सृष्टि मेरा कल्याण तो होगा ही वर दे करके खुश करके है घूस देने की जरूरत नहीं है यहाँ आज तो वर देने का मतलब हम लोग घूस दे रहे मंगल हम्म। पाप हाँ लेकिन आशा प्रतीक्ष पत्नी वगैरह ब्रह्मज्ञानी नहीं है ना उसके जो संतान हो रहे हैं वो तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो वो वंश नष्ट हो जाएगा और चाहे आप ब्रह्मज्ञानी भी क्यों ना हो विजय मुक्त है नहीं जीवन मुक्त है तो प्यारे कर्मानुसार जो यहाँ शरीर है उस शरीर के अनुसार धर्माचरण तो करना पड़ेगा नहीं करेगा और होगा ही वो स्वाभाविक रूप से होगा क्योंकि अनेक जन्मों से धर्म का आचरण किया है उसी पुण्य के प्रताप से ब्रह्म ज्ञान मिला तो जीवन मुक्त होगा तो एकदम अचानक वो दुष्ट बन जाएगा अधर्म करेगा वो जीवन मुक्त होने का फल यही है क्या कि हम बदमाश हो जाए ऐसा नहीं होगा कि अनेक जन्म संसिद्ध होकर आया हुआ है तो अनेकों जन्मों से असत्य बोलने के आदि हो चुके हैं अनेक जन्मों से ब्रह्मचारी बने रहने का आदि हो चुके हैं नहीं सत्य अहिंसा ये सब क्या अनेक जन्मों से आपके अंदर आया हुआ है इसलिए अभी जो झूठ बोल रहे तो समझ रहे ना अभी वो साधना में अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है वो तो भूल चुक से तपका इस मार्ग में अब लगेगा वो धीरे धीरे धीरे उसको समय लगेगा इसलिए जो व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुका है उसको अभ्यस्त सत्याग्रह में वह में उसकी निष्ठा यज्ञ ने दान का प्रसाद न होकर के ब्रह्म दिशा किया ही है उसने इसलिए उसका फल स्वरूप उसके अंदर संस्कार रहेगा ना जिसके कारण से प्रारत बना और वही प्रार्थ से शरीर चल रहा है इसलिए कर्तव्य आप कर्तव्य का विवेक में उसको रहेगा उस समय इसलिए भी वो प्रार्थना करता है तो कोई गलत और तीसरा पक्ष है भगवान जी का लोक संग्रह में भगवान तो साक्षात विमुक्त है शरीर रहते ही उनका शरीर नहीं है यमराज का भी शरीर है वो कहेगा भी आगे मैं जानते भी इस जाल में फंसा हूं जानते ही मैंने इस पल के अंतुल कर्म कर दिया था इसलिए पल मिला है मेरे को और भगवान में तो वो भी नहीं है फिर भी कौन सा काम नहीं किया नारद जी चक्कर में पड़ गए जब भगवान कृष्ण की गृहस्थी को समझने गए तो नारद जी के मन में एक बार आया ये सोलह हजार एक सौ आठ पत्निया इनके साथ एक अपना गृहस्थ धर्म कैसे निभाते होंगे किसी ने किसी एक पत्नी के साथ बैठे होंगे और अग्निहोत्र करेंगे या नित्य कर्म करना है अग्निहोत्र वगैरह गृहस्थ होकर के क्षत्रिय गृहस्थ घर में जन्मे और इतने सारे पत्नी है तो वो ये सोच रहे तो हो सकता है रोज ही केवल रुक्मिणी के साथ बैठ के अपना नित्य कर्म पूजा पाठ करते होंगे बाकी पत्नियों तो फिर धर्म पत्नी नहीं रहेगी ये धर्म के काम में आ नहीं रही है इसलिए जानना चाहिए देखना चाहिए कि क्या करते होंगे कैसे करते होंगे गए द्वारिका जिस महल में घुसते हैं वहीं पर कृष्ण है और उतना ही लंबा चौड़ा वगैरह बिल्कुल उस पत्नी के अनुरूप सटी है ड्रेस ही ये पीली साड़ी है तो पीला कपड़ा हुआ लाल साड़ी है तो लाल कपड़ा पहने हुए हैं बिल्कुल सटिंग के साथ और जिस समय जहाँ जो कर्म होना है गृहस्थ कर्म मान लो कहीं शाम को जुट गए और सायंकालीन कर्म हो रहा है वो देख रहे हैं कि दोनों पति पत्नी बैठ के सायंकालीन कर्म कर रहा है सवेरे गुजरा तो वहाँ दूसरे पत्नी के साथ बैठे हुए वहाँ पर अपना कर्म हो रहा है कहीं पेपर देख रहे हैं तो पत्नी खिला रही है खा रही है वहाँ वहाँ वो हो रहा है लागत में आ गया प्रसंग तो भगवान भी कर रहेगा कोई कर्म ऐसा नहीं छोड़ेगा कि उसको भले कोई पाप ना ना देते कसित पाप न कोई पाप लगना है उसको नाभिनंदती नदी इत्यादि पड़े हैं फिर भी क्योंकि आदर्श स्थापना तो उनको ही करना है नहीं तो कहेंगे वो गृहस्थ प्रवेश नहीं तो मैं क्यों कहूँ आज के जमाने में ना गुरु नहीं करते मैं क्यों करूँ लोग बोलते हैं फिर गुरु जी नहीं करते तो हम क्यों करें तो लोग फिर यदि देवाचर तो से सत्य गीता में से तो इसीलिए यमराज हो चाहे आप कोई भी हो कम से कम लोक संग्रह की दृष्टिकोण से तो करना पड़ेगा तो तीन पक्ष है इसीलिए या तो अपने पत्नी आदि जो और जीवन मुक्त है उनके लिए कर रहे हैं या स्वयं जीवक पर तो प्राप्त अनादिकाल में जो है अनंत जन्मों के संस्कार के वसाद कर रहे हैं या तो लोक संग्रह में वापी कर रहे हैं तो नहीं करेंगे तो शिक्षा कैसे प्राप्त होगा ये मालूम ही कैसे होता तो इसीलिए ये सब आवश्यक है नमस्ते अस्तो ब्रह्मन हे ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तो तस्मा यद्यपि भगवत भगवत अनुग्रह न सर्व मम स्वस्ति सियात तथा तद अधिक प्रसादनार्थम अनशील विषिताम एक का रात्रि वरान फिर भी आपकी अधिक प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ ये बात अधिक प्रसादनार्थम अनशनीन उषिता एक एकाम रात्रि प्रति अनशन द्वारा जो आपके वास की वे प्रत्येक दिन रात के प्रति तीन वरान तीन वरों को वर्ण करे जब एक एक काम यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया विपसा इन तीन तीन ऐसा नहीं बोला वहां नहीं प्रत्येक दिन के लिए एक ही यानी कि दिन के लिए अलग रात के लिए अलग ऐसे करके नहीं लेना नहीं फिर कहोगे सुबह और शाम के लिए अलग तो प्रत्येक घंटा चार बार हो जाएगा तो दिन का चौबीस घंटा साठ घड़ा दंडात्मक चौबीस घंटे का समय के लिए एक हुआ है त्रिन वराम रणेश्वर अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थस्व मत्ता मुझसे आपके अपने अभिप्रेत अर्थ विशेषों की प्रार्थना करें और वह हम प्रदान करने में सक्षम है तो हम प्रदान करेंगे ऐसा करके उन्होंने जो है मत्ता जो लिया गया राशि है कृपण कार्य करते इसलिए पंचमी लिया है यद्यपि वहां पर तो तीन घरान विनिश्व आया हुआ है द्वितीय आएगा पंचमिया कैसे कर दिया मत्ता विनिश्व तब कहते कि वो जो है अपादानत्व तो विवक्षित कर दिया क्योंकि जो है मत सकाशाद याचस्व धुम है ना याच रात में द्विकर्मक होना चाहिए पंचमी तो होना नहीं चाहिए तब आपने अनुच्छेद में क्या बनेगा अभी अविवक्षित यदि अपादान है तो भी कर्मक बनेगा यदि आपने अपादान विवक्षा किया तो पंचमी व्याकरण में कोई आपत्ति नहीं है इसलिए यहाँ विवक्षित अपादान मानना है अतव मत पंचमी हो गया नचिकेता नचिकेता देखो सबसे पहले अपना कोई चीज की मांग नहीं करता सबसे पहले कहता है कि भाई हमारे पिता बिल्कुल प्रसन्न है और वे चिंता मुक्त है और उनके भरोसा हो जाए कि मेरा बेटा जरूर आएगा और ये ढंग से खाना पीना करें यदि को बड़ा ढंग से संपन्न करें इसलिए आप कृपा कर दो पहले अपने पिता माता की चिंता लगी उसको शांत संकल्प सुमना यथा वीतमन्यो गौतमो माभिवृत तत्प्रशिष्टम माभिवद प्रतीत ये त्रयाणाम गृण नचिकेता नचिकेता ने कहा यदि आप देना चाहते ही है वरों को तो सबसे पहला वर उनमें से प्रथम वरम ये प्रयाणाम प्रथमम वरम एक नाम तीनों में से पहला वर मैं यह आपसे मांगूंगा क्या कभी मेरे पिता जो है कैसे है मेरा पिता कौन है गौतम हो गौतम नाम से जो वाद श्रवक हो गौतम गोत्रोत्पन्न वाद श्रवक नाम से सुप्रसिद्ध वह जो मेरा पिता है वो शांत संकल्प है मेरे प्रति जैसे पहले शांत भाव से प्रेम भाव से व्यवहार किया करते थे वैसे ही मन वाले हो गए संकल्प से मन लक्षित है शांता मनोज्ञ शांत मन हो तो ही नहीं सुमना और सुमनस भी हो प्रसन्न मन भी हो मन शांत है लेकिन प्रसन्न नहीं है किसी उदासीन आदमी का मन होता है उसका मन भी शांत होता है लेकिन ना प्रसन्न है ना दुखी है वही तो उदासीन है ना उदासीन वैध आदमी का स्वरूप यही है वो शांत तो है लेकिन वह न तो प्रवृत्ति है उसके अंदर न निवृत्ति है न सुख है न दुख है न तो प्रसन्न है न तो वह अप्रसन्न है वैसा न हो फिर हम चाहेंगे तो भी चुप बैठे रहेंगे न व्यवहार ही नहीं करेंगे मेरे से वो भी ठीक नहीं इसलिए प्रसन्न मन वाले भी हो शांत मन हो और प्रसन्न मन भी हो प्रकाश जिस प्रकार हो जाए उस प्रकार आप कहें जैसे प्रथा मन जैसे शांत संकल्प प्रसन्न चित्त और वीत मनो इसे स्पष्ट है जानता है नचिकेता कि मेरे को जो भेजे हैं यहाँ वो तो क्रोध आवेश में आकर के यज्ञांगी रूपेण नहीं न यमराज का कोई कार्य था न पिता का अपना कोई कार्य था केवल क्रोध आवेश न करके किए हैं ये बात जान रहा अच्छी तरह से इसलिए कहता है वीत अन्य हो क्रोध रहित भी हो गई और माँ अभी नृत्य तत्पृष्टम माँ अभी अभिवदित कहते हैं और आपके द्वारा लौटाए जाने पर माम माम माम प्रति मेरे प्रति जो है आपके द्वारा लौटाए जाने पर और प्रसन्नता पूर्वक अभिवधिक बातचीत करें तब प्रशिक्षण तो में आपसे लौटा दिए जाने वापस भेज देने पर माँ माम प्रति अभिता पूर्ण रूपेण अभिवदित कथित एक त्रयाणाम प्रथम वरम निर्णय कह दिया यदि वरान भगवन हे भगवन संबोधन यदि वरान यदि आप वरों को देना ही चाहते हैं तो सबसे पहला यह है शांत संकल्प उपशांत संकल्प यस्य माम प्रति यम प्राप्य कि नु करिष्यति मम पुत्र इत्यादि इनके मन में हो रहा होगा अरे भाई मेरा जो बेटा है वो यमराज जी के पास पहुंच करके क्या कर रहा होगा हम्म? ऐसे मेरे बारे में जो इनके मन में विभिन्न प्रकार की चिंताएं हो रही होगी तो ये सारी चिंताएं शांत हो जाए और संकल्प रूप बताया संकल्प यश विग्रह बता नहीं पहले शांत संकल्प यश किस प्रकार की चिंता है किसकी बारे में माम प्रति यमाम रात किन्नु करिष्यति पुत्र इत्यादि रूपम संकल्प इत्यादि रूप है संकल्प उपशांत बहुत हाँ, ऐसा जो व्यक्ति उसको कहते हैं शांत संकल्प सुमना प्रसन्न मनाश्च तो प्रसन्न मन जैसा हो गए वैसे कर देना देवता के संकल्प मात्र से हो जाएगा उन्होंने पचास तो करनी है उधर उसके मन एकदम साफ हो जाना है बोले तो शांत हो जाएगा प्रसन्न हो जाएगा और अपना ये जीव कर्म जो चल रहा था तो उसने आनंद से भाग लेकर उसको पूरा करेगा ये तो उसमें आता ना कि वो सरस्वती ने क्या स्वयं हाथ थोड़ी गई मंत्रा के ऊपर संकल्प करिए वहां सबने प्रार्थना किया देवताओं ने भाई कब तक राम जी आप बैठे रहेंगे सारा काम कैसे होगा है तो प्रार्थना किए सरस्वती से सरस्वती ने कहा ठीक ठीक कोई बात नहीं बुद्धि की निष्ठात्री थी उन्हें कोई बात नहीं संकल्प किया मंत्रा के खोपड़ी उल्टा हो गया उनको फिर आने की जरूरत नहीं पड़ती देवताओं को वही संकल्प कर देते हैं तो जिसको चाहे जैसे वो पलट पलट कर है ना काम दे तब क्या पांच बाण छोड़ देता करते ना तो आज मेरा दिमाग से गलत हो जाएगा भगते ही को इधर उधर इधर तो देवता नहीं काम है इसलिए कहते हैं कि आपका संकल्प है आपका संवरण देने का कथन किए हैं तो आपने हाँ कर दो काम हो जाएगा वीतमन्य विगत रोषश्च गौतमो मम पिता विगत रोषश्च यहाँ प्रसन्न नाम में और मम पुत्र इत्यादि में भी दिखा रहे सदैव सस्नेह प्रत्याह हो दया और स्नेह के साथ मेरा बेटा करके मेरे को माने ये ना समझे कि हमराज ये बात गया वो तो मरी गया आगे लौट आया जो तो भूत है प्रेत है और डरे कि हमसे बातें ना करें उल्टा गायत्री गायत्री मंत्र बोल की छड़क उड़क करके हमको भगाने की चेष्टा करें वो ठीक नहीं है ना इसे सस्नेहम सदयांच सदयम च मव पुत्र इत्यादि रूपेण माम जुषाम संकल्प इत्यादि प्रसन्न मना प्रसन्न मन हो जाए क्योंकि धर्म प्रियता क्योंकि पुत्र कैसा है कैसा धर्म है उसके लिए प्रिय है और यमराज क्या है धर्मराज है ना धर्म का अधिष्ठाता है यमराज भी खुद धर्मराज है और पुत्र धर्म प्रेमी है किसी के मन में निश्चय हो जाए कि धर्म और रक्षति मेरा पुत्र मेरे किए मेरे द्वारा किए जाने वाले अधर्म को भंग करके धर्म की रक्षा करने के प्रयास किया था अतव मृत्यु उसको स्वाहा न करके उसकी रक्षा करके लौटावे और जरूर लौटाएगा ऐसी दृढ़ भावना के साथ विश्वास के साथ प्रसन्न मन वाले मेरा पिता हो ये भावना है और कहते क्या निरपरोश गौतम मम पिता माँ अभी मैंने माम प्रति हे मृत्य किंच तत्पृष्ट निर्मुक्तम प्रेषित गृह प्रति नाम ने माम अभिवदे प्रति तो लब्ध स्मृति सन कहते हैं हे मृत्य जब मेरे पिताजी जो है गौतम विगत रोष वाले इस प्रकार के हो जाए लेकिन माँ अभिकार कर दिया माम प्रति ये दोबारा अभी आगे भी है अभिवदित विजयी तो का अधिकार हो गया प्रति माम प्रति हे मृत्यो दूसरी बात तत्प्रसृष्टम त्वया निर्मुक्तम प्रेषितम आपके द्वारा मुक्त करके लौटा दिए जाने पर गृह प्रति प्रेषितम माँ माम अभिवदित प्रतिपा लब्ध स्मृति सुन स्वयं पुत्र ममागत इतम प्रतिज्ञान प्रतिजान करता अरे वही मेरा बेटा लौटाया है ये भूत प्रेत नहीं है ऐसा सम्यक प्रकार से उनको प्रतिविज्ञा हो गए और उनकी स्मृति उत्पन्न हो गए ऐसे उत्पन्न करना अच्छा एक प्रयोजन प्रयाणाम वराणाम प्रथम आवध्यम वरम गृणे इस प्रयोजन को लेकर के मैं तीन वरों में जो आदि वर है प्रथम वर है उसकी उपासना करता हूँ ये पृथ्वी में प्रतोषण जो मेरे पिता का जो प्रसन्न था और कहता है अब यमराज जी जवाब में कहते हैं ठीक है भाई तुम जैसे चाह रहे हो ऐसे ही हो जाएगा चिंता मत करो बल्कि तुम जो सोच रहे हो ना कि तीन दिन से भी नहीं खाए पिए होंगे तुम्हारे वर मांगने से पहले ही हम तो धर्म ज्ञानी है देवता है हम थोड़े तुम बालक जैसे सोच रहे हो लेकिन तुम घर में आए थे जिस समय उस समय से मैं जहाँ भी रहा हूँ मेरे को वही पता लगा है कि मेरे यहाँ ब्राह्मण आके बैठा है और इसलिए मैं उसी समय से ही तुम्हारे पिता का मन ठीक कर दिया हूँ तो तीन दिन के यदि बिगड़ गया होता तो तो मेरा मन उसी समय हो गया और मैंने उस समय तुमको ये वर दे चुका पहले से दे चुका हूँ वो वर और वो प्रसन्न है और वो सब खा पी रहे हैं आनंद से और यज्ञ कर्म चल रहा है आनंद से कोई रुकावट नहीं है बिल्कुल ठीक ठाक यदि तुम जॉब लौटा हो वो तुमको पहचानेंगे उनके मन में दृढ़ विश्वास है धर्म और रक्षित रक्षिता के ऊपर किसी ने मालूम है कि मेरा बेटा जैसे पहली बार लौटा था अब भी जरूर लौटेगा इसे दुखी नहीं है कोई घर में दुखी नहीं सब प्रसन्न यथा पुरस्ता भविता प्रतीत अवदाल किरारुणिमर मत प्रसृष्ट हो रात्रि शैदावी दमन्यु वाम शिवा मृत्यु मुखात प्रमुक्तम मुझसे प्रेरित होकर हुआ आपकी जो पिता अरुण है की है उद्दालक का पुण्य पुत्र भी है अरुण गोत्रोत्पन्न भी है अरुण का बेटा गौतम गोत्रोत्पन्न अरुण का बेटा की नाम से सुप्रसिद्ध है स्वार्थीकरण करेंगे फिर उद्दार गए वह अवदाल की ऐसे अर्थ कर देंगे तो ऐसा जो है वह पिता तुम्हारे मत प्रसृष्ट मेरे द्वारा लौटाए जाने पर मुझसे प्रेरित होकर के यथा प्रस्ताद भविता प्रतीत हो जैसा पहले थे वैसे ही उनकी सारी प्रतिविज्ञा हो जाएगी और तुम्हें पहचान कर तुम्हें बड़ा प्रेम से स्वागत करेंगे आनंद करेंगे प्रेम करेंगे चिंता न करो और सुखम रात्रि सीता वीतमन्यु हो और वीतमन्यु सन और क्रोध से ईद होकर के शेष जिंदगी भर की सारी रात्रियों में भी वे कैसे रहेंगे सुख पूर्वक ही सोएंगे दृश्यवान मृत्यु का प्रमुखम मृत्यु के मुख से छुटा हुआ तुझे देख करके तो और आनंदित ही होंगे तथा मृत्यु वाचक यथा बुद्धिस्तयी पुरस्ता पूर्व आसित जिस प्रकार की बुद्धि तुम्हारे विषय में पहले था स्नेह समन्विता स्नेहा बुद्धि थी पिता तव भविता प्रीति समन्वित तव पिता तथा प्रतीत प्रतीतवान सन औदारिक ठीक तुम्हारे जो पिता है तब हो भविता होंगे कैसा होंगे प्रीति समन्विता पिता तथा प्रीति समित होकर आपके पिता उसी प्रकार जैसे पहले उनकी प्रतीति प्रतीतवान से प्रतीतवान कतव तो प्रत्यांग कर दिया कता को कतव तो कर दिया क्योंकि दोनों ही करते होते हैं लेकिन दोनों बहुत फर्क भी है हाँ कर्मणी और भाव होता है तो यहाँ पर भाव और कर्तरी में कर देंगे नीचे दे रहा है प्रतीत पृथ्वी प्रतिदवान है तो, तो प्रत्यांत प्रतिदयी क्या है गत्यर्थ कर्मक श्लेष शीन स्था आस वस जल रो रोजीभ्य सूत्र के द्वारा कर्तव्यक्तांत आशय में व्याचे प्रतिदवान कहीं कर्मणी में कथा ना समझे आप कहीं भाव में कथा ना समझे आप इसलिए जान करके प्रतिपवान करके कर्तृत्व का द्योतन करने के लिए भाष्यकर ने व्याख्यान किया और उद्दालक ही उद्दालक एवं और दाल की ही स्वार्थिक अण कर दिया है स्वार्थ व्याख्या तो अपत्यार्थ व्याख्या क्या हाँ? क्योंकि आगे जो ना अरुणी के अपत्यार्थ व्याख्यान करने वाले हैं इसलिए यहाँ पहले स्वार्थिक लेना पड़ा औदाल की ही अरुण अपत्यम आरुणी ही व्यामश्य अरुण हुआ एक बार तो अरुण